भगवान ने युद्ध करने की तैयारी की अब स्वयं युद्ध में प्रवृत्त होते हैं अब ये देखते हैं कि कुंभकर्ण को और रावण को भगवान राम स्वयं मारते हैं बाकी और जितने भी निशाकर हैं उनको मारने के लिए तो ये सब है मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी मार, मारेंगे आगे चल करके लेकिन बाकी और जितने निशाकर हैं सेनापति तमन है महोदर इत्यादि है ये सब अकम्पन अधिकार इत्यादि है उन सबको तो हनुमान सुग्रीवाल ये सब पालू और भाने कहेंगे ये सबको सब उनसे युद्ध करके उनका विनाश कर देते हैं तो युद्ध की व्यवस्था इस प्रकार से तो ये जैसे पहले बताया था आपने अंदर ये सब युद्ध को देखने की बात है ऐसे समझ में एक एक राम का की सेना है दूसरी ओर भगवान राम की सेना है एक आखिरी संपत्ति है दूसरी दैवी संपत्ति है इन दोनों के बीच में युद्ध चलता है तो इसमें जो अब दो प्रकार के असरों में भी मुख्य रूप से मोह और अभिमान अहंकार ये सबसे बड़े निशाचर है और बाकी फिर काम क्रोध आदि ये ये उनके ये भी उसके बाद नंबर दो का फ्रंट ये सबसे प्रथम तो जो वो मोह राजा ये रावण और अहंकार उसका भाई ये दोनों जो उनके तो बड़े बहुत बड़े निशाचर और बड़े शक्तिशाली हैं और बहुत उनकी शक्ति होने के लिए ही कुंभकर्ण को इतना विशाल कर दिखाया पर्वत के समान दिखाया बानर उसके मुंह में घुस गया और निकल आवे तो उसकी भयंकरता को दिखाने के लिए इतना विशाल बता दिया वैसे अगर उनके प्रतीकों को न देखें तो फिर एक प्रकार से जो है बच्चों की कहानी जैसा लगता है कि वो कुंभकर्ण एक बहुत भारी शरीर वाला कोई राक्षस जैसा कुछ है वो और ये बानर लोग छोटे छोटे उसके मुंह में घुस जाते निकल जाते तो ये सब दिखाने के लिए कि ये सब अहंकार कोई साधारण बात नहीं है अहंकार बड़ा शक्तिशाली है व्यक्ति अपने अहंकार का विनाश करना चाहे व्यक्ति के या जीव जीव अपने अहंकार का स्वयं विनाश करना चाहे तो जीव के बस की बात है जीव खुद ताकत ले खुद विचार करे खुद कोशिश करे और अपना अहंकार नष्ट करे तो नहीं कर सकता क्योंकि अहंकार ही जीव है जीव अहंकार को जो बातें छोड़े अहंकार ही अहंकार का विनाश करे कोई अपना आप अपने विनाश नहीं करता और कर भी नहीं सकता इस प्रकार से वो अहंकार जो वो हो जीव अपने अहंकार का नाश नहीं कर सकता जीव जब शरण में जाए भगवान के और भगवान ही जब उसको जो है अहंकार को नष्ट करने के लिए आवे तभी वो अहंकार नष्ट किसी प्रकार से अविद्या यदि कोई व्यक्ति अज्ञान में पड़ा हो तो अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान को कैसे नष्ट कर लेगा जैसे कोई अंधकार हो तो अंधकार ही अंधकार को नष्ट कर ले कैसे कर लेगा हाँ? उसके लिए तो उसका विरोधी चाहिए प्रकाश हो संबंधकार तो भ्रष्ट हो किसी प्रकार के अज्ञान के नष्ट करने के लिए अज्ञान से तो हो गए नहीं अज्ञान से भिन्न जो ज्ञान है वही आवे और ज्ञान क्या है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है वही जब आवे तो अज्ञान का नाश करे बस ये वेदांत के जो सिद्धांत है उनको कथा के रूप में और भक्ति का रूप दे करके जो सब मानस सुन लो कथा सुन लो इस प्रकार इनके अपने भीतर देखते रहो कि जो वो परमात्मा ही जो कथा करे तब मोह को भी दूर करे अज्ञान को भी दूर करे और वही अहंकार को भी दूर करे बाकी हो सकता है जो जीव और जो छोटी मोटी प्रवृत्तियां हैं उनको वो दूर कर सकता है दूषित प्रवृत्तियां जो वो <clears throat> जो जैसे क्रोध आदि है हाँ। <clears throat> लोभ है चश्मा आदि है <clears throat> हम्म। या ईर्षा है द्वेष है कटुवचन है इस प्रकार की बातों में इनको थोड़ा जीव विचार करे और ये समझे कि ये दोष है तो थोड़ा थोड़ा अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखे मन के ऊपर थोड़ा संयम रखे तो धीरे धीरे करके इनके ऊपर बहुत कुछ विजय प्राप्त कर सकता है लेकिन इनकी इनमें इनकी शक्ति शक्ति तो अंतता अहंकार और मोहल है जब तक ये है तब तक इनकी जितनी की निशाचर सेना जितनी भी है ये काम क्रोधाद विकार है जितने भी दोष हैं पाखंड दम्भ इत्यादि जो भी है ये सबको शक्ति तो प्राप्त होती है अहंकार से शक्ति प्राप्त होती है ज्ञान से इसलिए जब तक ये जीवित है ये नष्ट नहीं होते उनका जब वो <clears throat> जब जीव परमात्मा के क्षण में जाए और जीव परमात्मा के क्षण के माने है कि परमात्मा अपने हृदय जब वो हो जाए प्रबल और जीव उसके अधीन हो जाए तो वो फिर परमात्मा जो वो फिर अहंकार को भी नष्ट करे अविद्या को भी नष्ट करे और बाकी जितने ये आखिरी प्रवृत्तियाँ जितनी है वो सब भी उसी के साथ साथ समाप्त हो जाती नष्ट हो जाती है ये बताने के लिए दिखाया कि ये बड़े शक्तिशाली है आगे चल करके रावण का जब होगा तो देखेंगे रावण भी बड़ा शक्तिशाली है तो बड़ा शक्तिशाली किसके लिए है रावण इनके जो जीव के लिए बड़ा शक्तिशाली है वो या ज्ञान ऐसे अहंकार है वो भी <clears throat> जीव के लिए बड़ा प्रबल है बड़ा शक्तिशाली है उसके मारे नहीं मर सकता उसके सामने ये जीव बहुत छोटे हैं अहंकार बहुत बड़ी चीज है ये देहाल रखने वाला जीव बड़ा अल्प शक्तिमान है उसके सामने उसका बस नहीं चलता ये बताने के लिए कहते हैं कि ये है तब भगवान ने सबको देखा कि जब ये सबके सब युद्ध करते करते कुंभकर्ण से हार रहे थक रहे और इसकी सेना प्रबल हो रही है तो भगवान कहते हैं इसको हम हारे अब एक देखो यहाँ राज्यों में कह करके भी तुलसीदास जी संबोधित संकेत करते हैं कि भगवान कुंभकर्ण से युद्ध करने जा रहे हैं तो मानव उसके ऊपर कृपा करने जा रहे हैं जब भगवान को कपाल दिखाना होता है तो उनको नहीं नेत्र माने कमल जैसे उनके नेत्र जिन नेत्रों में प्रीति भरी हुई है प्रेम की दृष्टि डालने वाले भगवान है तो भगवान ने अपने प्रेम अपने नेत्रों में हृदय में ला करके प्रेम से अभिभूत होकर के कुंभकर्ण सिद्ध करने करते हैं उसके ऊपर कृपा करने जाते हैं कृपा दृष्टि डालने जाते हैं अब वो कृपा दृष्टि कुंभकर्ण के ऊपर क्या है कुंभकर्ण जो निशाचरी रूप प्राप्त कर लिया उसने तो उसका उद्धार हो निशाचर कभी उसका समाप्त हो और उसका भी मुक्त हो जाए इसलिए भगवान आगे बढ़ते हैं ये जो है यदि अहंकार मरता है तो अहंकार का क्या होता है अहंकार का पुनर्जन्म थोड़ा होता मरता है अहंकार मरता है तो मुक्त हो जाता है मुक्त हो जाता है मैंने जैसे कोई तरंग है सागर की तो सागर की तरंग अगर पानी भीतर डूब जाए तो उसका क्या होगा है? हाँ? तो पानी बन जाएगी मुक्त हो गई मानो अपने तरंगाई रूप तो से खत्म हो गई ऐसे अहंकार एक वृत्ति है और अगर वो परमात्मा में जाकर के लीन हो जाती है तो उसका क्या हुआ मैंने अहंकार की मुक्ति हो गई तो इसलिए जो ये है यही उसका वर्णन करने के लिए दिखाते हैं कि भगवान राम युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण से आगे बढ़ते हैं आगे देखिए कर कारण साज कटिभाकार हरिदल दलन चले रघुनाथा कमकीन प्रभु धनुष कपोरा बधिर भयो सुन सोरा सत्य संग खाने सर नक्शा बाल सर्प जन कदे सपच्छा जहाँ चले विपुल नाराचा लगी कटन बदत कट पिशाचा कटन चरण और सिर भुज दंडा बहुत वीर हो सत संडा घुर्मी घुर्मी घायल मई परही उठ समाज सुबह पुण्य लागत बान जलद जिम गाजई बहुत देख कटन कर भागई रुंड प्रचंड मुंड गुण धरु धरु मारु मारु धुंगावे खनमा प्रभु के सायकन काटे विकट पिशाच पुनरघुवीरन संगम प्रभु से सब नाराज सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई संतन की जय अब भगवान राम का और मानव से उनके निशाचर सेना के साथ में युद्ध प्रारंभ होता है तो भगवान का पास अर्थ क्या है कर सारंग साज कटिभाथा कटिभाथा भाता मैंने तर्कस उन्होंने अपने कमर में तर्कस कसा और हाथ में धनुष लिया सारंग भगवान के धनुष का नाम कारण ये धनुष लेकर के आगे चलते हैं सारंग धनुष वैसे तो पौराणिक कथाओं में सारंग धनुष कैसे बना हा? उसकी कथा पौराणिक कथा अलग है लेकिन तुलसीदास क्या कहते हैं कि ये धनुष भगवान का क्या है काल और ये जितने बाढ़ निकलते हैं ये क्या है लौन में पूजा रखना शुरू शुरू में नंदा कांड शुरू हुआ बस उसी से ये सब शुरू हो जाता है गणित भगवान के पास धनुष्वाण जो है वो सब काल ही है काल इन सबको खा जाता है विनाश सके इनका सबका जो भी विनाश करने वाला है वो काल है भगवान का धनुष तो इन छात्रों का भी विनाश कर देता है अब देखिए एक बार फिर ध्यान में रखें कि जैसे जैसे भगवान की कथा सुने तो एक तो अंतर्मुखी होने का प्रयास करें अपने मन में इस कथा को सुन करके उसको उसका चित्र अपने मन में लाने है युद्ध का और वहीं पर उनको प्रतीक भी उनका समझने की कोशिश करें जब प्रतीकों को समझेंगे तो आपको अपने भीतर <clears throat> आश्री संपत्ति और दैवी संपत्ति वो सब अपने आप दिखाई देगी वो काल्पनिक नहीं वो यथार्थ अपने आप अपने आप दिखने लगेगी तो देखो ये आश्री संपत्तियां हमारी है ही है अविद्या है ही है अहंकार है ही है ये निशाचर नहीं है <clears throat> इनको सबको कुंभकर्ण कहा गया है इन्हीं को सब रावण कहा गया है इन्हीं को सब महोदय इत्यादि जितने देहाभिमान इत्यादि जितने निशाचर ये सब वही है तो ये सब अपने भीतर देखने का अभ्यास करें दूसरी तरफ ये मानव <clears throat> सुग्रीवादी है ये हनुमान जी इत्यादि है ये सब दैवी संपत्तियां हैं और इनके साथ भगवान की शक्ति है भगवान राम है लक्ष्मण है ये परमात्मा की शक्ति परमात्मा की शक्ति है परमात्मा भाव आत्मा परमात्मा है उनका ज्ञान है <clears throat> वैराग्य है ये सबकी सब शक्तियाँ जो है ये सर्व दूसरी तरफ है वैराग्य क्या है चाहे अपने अंदर ना आया हो लेकिन वैराग्य को अपने हृदय में देखें तो वैराग्य किसे कहते हैं किस स्मरण आ सकता है ज्ञान किसे कहते हैं परमात्मा का ज्ञान क्या होता है वो भी अपने हृदय में समझ सकते हैं तो न समझ सकने कोई ऐसी बात नहीं है इसलिए जब इनके प्रतीकों के साथ में इस कथा को देखने लगते हैं तो वो मन साक्षात हो जाती है अनुभव हमें हो जाती है इस प्रकार से अपने आप को देखें और यही साधना है साधना के मैंने यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में सकते सबको विजुलाइज कर सकता है देख सकता है तो तो वो यही एक प्रकार का कथा चल रही है उस समय एक प्रकार का ध्यान चल रहा है आंतरिक चिंतन चल रहा है <clears throat> विचार चल रहा है तो ये सब साधना के अंग है <clears throat> ध्यान है परमात्मा का चिंतन है ये समस्त अनुकूल प्रतिकूल जो वृत्तियां हैं इनका चिंतन है ये सब ध्यान का रूप है विचार जो है वो भी उसी के अंतर्गत आता है ये उच्च कोटि की साधना के अंतर्गत आते हैं कथा ऐसी लगती है तो साधारण प्रारंभिक बातें हैं लेकिन इस कथा का सही उपयोग करें तो अपने अंदर जाकर के ठीक ठीक अगर ये कथा चलती है समझते हैं सुनते हैं तो फिर एक उच्च कोटि की साधना चलती है इससे उनकी कोई साधना नहीं है परमात्मा का चिंतन देवी संपत्ति आखिरी संपत्तियों का विजुलाइज करना अपने अंदर और फिर आखिरी संपत्तियों का विनाश हो देवी संपत्तियों का सरलता हो परमात्मा की शक्ति भी अनुभूत हो अपने हृदय में आनंद आदि की अनुभूतियाँ हो शांति की अनुभूति हो बस यही सब उच्च कोटि की साधना है तो ये कथा भगवान की कथा जो है वो वो चरित्र भगवान के हैं इस ऊंचाई में जैसे भगवान शंकर जी ने जैसे कहा उसी प्रकार से ये कथा जो है व्यक्ति को मुक्ति की ओर परमात्मा की ओर ले जाने वाली है लेकिन उसका सही उपयोग करें अगर कोई इस कथा को इस प्रकार से सुनता है जब कथा हो रही है या पढ़ रहा है या सुन रहा है तो फिर हिंदुस्तान का नक्शा देखता है और फिर दक्षिण में लंका का टापू देखता है और फिर वहाँ देखता है लंका में सोने की नगरी है फिर भगवान राम वहाँ गए हैं और वहाँ पर लंका में युद्ध हो रहा है तो इस प्रकार से लंका में युद्ध देखना दक्षिण में ये बहुमुखी मृत्यु का की बात हो गई अंतर्मुखी तब हुई जब अपने अंदर इसको सबको देखो जो कुछ लंका वंका है सब अपने भीतर है जो युद्ध चल रहा है सब अपने भीतर चल रहा है इस प्रकार से देखने का अभ्यास करना पड़ता है तो हर साधना का एक क्रम है भले ही प्रारंभ में कोई व्यक्ति इसी प्रकार से देखता रहा हो कि लंका कहाँ है और कहाँ युद्ध हुआ है किसी की बुद्धि ऐसे ही काम करती रही हो लेकिन आगे चल करके उस व्यक्ति को अपने अंदर देखने का अभ्यास करना चाहिए यदि साधना व्यक्ति की कुछ आगे नहीं बढ़ी है तो फिर इस करने में कठिनाई होती है उसको यही होता है तो उसके भीतर जब वो अपने सोचने लगता है सबको इस युद्ध को या भगवान राम की लीलाओं को तो उसके सामने दो समस्याएं आती हैं जो ध्यान के समय हर किसी को आती है एक तो लय और दूसरा विच्छेद ये कथा में भी आते हैं जो ध्यान में आती है वो कथा में भी आती है <coughs> जैसे कि ध्यान करने बैठो निद्रा आती है तो ऐसी कथा में भी अगर आंतरिक शक्तियां जागृत नहीं हुई है और अंतर्मुखी वृत्तियां नहीं हुई है तो अपने भीतर सीखने का अभ्यास नहीं होता और उस समय मानो ऐसा लगता है कि जैसे अपने भीतर जा करके हम इस कथा को सुन रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही मानो भीतर से कुछ धक्का मार करके हमको एक कहीं गहरे गड्ढे में अंधकार के गड्ढे में धकेल रहा है निद्रा जैसे गड्ढे में वहां पहुंच रहे हम्म। मैंने हमारा अधिकारी है उसके हमें उसके पहले कुछ और साधना करनी चाहिए हम्म। कुछ पूजा करें कुछ जप करें कुछ और सेवा कार्य करें तो ऐसे करने से फिर आंतरिक शक्ति प्राप्त हो और व्यक्ति वहाँ टिक सके नहीं तो हृदय में व्यक्ति का टिकना आसान नहीं वहाँ थोड़ी देर भी रुकना बड़ा मुश्किल उसका व्यक्ति उसके लिए और प्रारंभिक साधनाएं बताई गई उनको व्यक्ति को करना चाहिए दूसरा ये हो जाता है कि फिर उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है व्यक्ति को जिस समय की कथा सुन रहा हो अध्ययन कर रहा हो विचार कर रहा हो तो अपने हृदय में अपने अंदर देखे तो देख नहीं पाएगा उसे दुनिया की बातें याद आएंगी आज कहाँ जाना है कौन काम रह गया है फिर उसके बाद क्या करना है किसने क्या कह दिया था उसको मैंने क्या नहीं कहा ये उत्तर मैं देता तो बहुत अच्छा रहता अब आगे मिलेगा तो मैं ऐसा जरूर कह दूंगा अब ये सोच रहा है इस तरह की तरह चल जाने कैसे बातें बुद्धि में आती रहती है ये सब आती रहेंगी तो कथा पीछे रह जाएगी और वो सब बातें वहाँ नहीं हो पाएंगी इस प्रकार से जो ध्यान की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं कथा में भी देखी जाती है तो ये कथा एक प्रकार का <clears throat> ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर इस प्रकार से समझना चाहिए आदमी देखना चाहिए तो कहते हैं कि भगवान को देखो कि अब जैसे भगवान राम को देखो तब तो तुलसीदास ये भी कहना चाहते हैं कि बार बार नहीं कहेंगे भगवान कारण धनुष लेकर के खड़े हुए युद्ध करने के लिए तो भगवान के मन परमात्मा जो शक्ति ज्ञान रूप जो परमात्मा है वो अपने हृदय में प्रकट होता है और आकर के इन नाश्री शक्तियों के साथ में युद्ध करता है तो वो परमात्मा की शक्ति क्या है उसके तारे उसके धनुष पाण इत्यादि में वो उनको सबको लेकर के आते होंगे प्राण काल के प्राचीन काल में एक जो है वो एरंड का वृक्ष उत्पन्न हुआ अंडी का पेड़ और उसमें जो है वो सत्ताईस पोरे थे गाठे गाठे गाठे गाठे करते जैसे अंडी की बात में गाठे होते हैं ऐसे अंडी के पेड़ में भी उसकी गाठे उन गाठों में से उसी में सबसे पहले भगवान का कारण धनुष बना उसी में से फिर और और अस्त्र कई लोगों के उसमें से अस्त्र बने उसी में से फिर अंत में एक गांठ का एक पोर का किसी का एक पोर का किसी का तीन पोर का किसी का सात पोर का किसी का उसमें चौदह कोर का इस प्रकार के सब अस्त्र शस्त्र तैयार हुए एक कोर की भगवान कृष्ण की बात बनी अब वो तिरंग के वृक्ष की बांसुरी अब देखो जिसको जिस कथाकार ने वो भागवत कथा लिखी होगी इस प्रकार से ये प्राण उस प्राण में उसको दिखाई दिया भगवान की बांसुरी उसकी अंडी की पीड़ित की वैसे तो बांस तो सब लोग जानते हैं सोदा जानते हैं दूसरे लोग जानते हैं कि बांसुरी बांस की बनती है लेकिन उस कथाकार को ये लगा कि वो तो अंडी के पेड़ की है है तो ऐसे ही देखते हैं कि धनुष भी अब इसके अंडे के पेड़ में ताकतें कितनी होती बांस ही मजबूत होता है वो बड़ा कमजोर होता और उसके लिए बड़े बड़े मजबूत अस्त्र बनाए गए तो अब उसको ये बताने के लिए उन लोगों के ध्यान कहीं इस तरफ गया कि देखो ये है ऐसे मत देखो कि ये कोई भौतिक अस्त्र शस्त्र है कारण कोई संसारी एक्चुअली कोई बांस का बना हुआ धनुष हो ऐसे नहीं है हूँ ये सब जो है आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और उन्हीं के रूप उसी प्रकार जैसे हैं वैसे उनको समझने का प्रयोग करो सारण शब्द जो ये है शब्द को संस्कृत में देखो तो इसके बहुत से अर्थ एक कवि ने तो सारंग शब्द के ऊपर एक दोहे बना दिया हाँ? सारंग ले सारंग करियो कर सारंग की ओर और सारंग फेंकी पाए के सार में तो इससे पता लगता है कि सारंग मैंने क्या क्या दीपक भी स्त्री भी हवा भी क्या क्या काम सारंग के माने बहुत है और सारंग के माने भगवान का धनुष है इस प्रकार से भगवान सारंग पानी कहलाते हैं तो जब सारंग पानी कहेंगे जो आत्मधनुष जो दिए हुए हैं वो भगवान राम के लिए उन्हीं के लिए शब्द प्रयोग होता है तो वो ये धनुष लेकर के आगे चलते हैं कर सारंग कर पारन खाट तक था हाथ से लिए हाथ में और कमर में करके बांधे हरि दल दलन के लिए रघुनाथा भगवान राम ने वो हो सत्र सेना का विध्वंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रथम तीन प्रभु धनुष तक पहले भगवान ने सबसे पहले युद्ध शुरू करने के पहले तरीका ये है कि उनकी पहले डोरी जो तो खुली रहती है धनुष की तो फिर उसको पहले डोरी चढ़ाई चढ़ाने के बाद में बाढ़ से चलाते हैं बाद में पहले खाली डोरी को खींच करके एक बार ट्राई करते हैं हाँ, तो डोरी ठीक बंधी है ढीली तो नहीं है मार चलाएंगे तो ठीक काम करेगी नहीं करेगी इसलिए एक जोर से खींचते हैं खींच करके छोड़ देते हैं तो कंगनाती हो आवाज तो उसको जो ये होती है तो उसे कंकार कहते हैं धनुष की तो प्रथम तीन प्रथम से टकोरा तो डोरी गंगनानी बड़ी जोर की आवाज हुई और इतनी जोर की आवाज हुई कि बदल लगा भय भयो सोरा उसकी आवाज की जोर की हुई आकाश में गूंज गई कि शत्रु सेना सब बहरी हो गई मैंने बहुत जोर की आवाज थी ये निशाचर लोग बहरे पड़ गए मानो ये देखो <clears throat> यही एक आक्रमण हो गया अभी बाढ़ चलेंगे तो बाढ़ चलेंगे बाद में शब्द ने ही लोगों के जो वो बहरा करके उनको एक प्रकार से निस्तेज असक्त कर दिया ऐसी करके जब देखते हैं महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं हैं और उस सेनाओं में जब पांडव लोग अपना शंख बजाते हैं भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं अर्जुन अपना शंख बजाता है तो क्या होता है वहाँ वर्णन करते हैं कि उनके जो <clears throat> कौरव दल है तो कौरव दल का सबका हृदय कांप जाता है हृदय विदीर्ण हो जाता है सबका हृदय विदीर्ण होने के मैंने एक प्रकार से एक भय का उत्पन्न उनके हृदय में होता है और कमजोरी एक भीतर से उनकी उत्पन्न होती है ऐसे करके यहाँ पर भी उनको भी उसी प्रकार से उसी राशि कहते हैं कि सब निशाचर लोग एक प्रकार से अशक्त होने लगे सत्य संग साढ़े सरलक्षा अब सत्य संग का मन मतलब क्या है अब भगवान का वर्णन होगा भगवान रघुनाथ है, है और राजीव नयन है और कृपालु दयालु है और सत्संग भी है सत्संग के माने है भगवान सत्य स्वरूप है <coughs> उनका जो भी कार्य है उसमें कहीं चूक नहीं होती हाँ। देखो जैसे जैसे व्यक्ति परमात्मा भाव को प्राप्त करता है जैसे जैसे उसकी स्वभाव प्रकृति फॉल्टलेस होती अगर कोई व्यक्ति जो है वो फॉल्टी नेचर का है बार बार उसका काम बिगड़ जाता है भूल जाता है टूट जाता है छूट जाता है ये सब होता है फॉल्टी नेचर मैंने परमात्मा से बहुत दूर है उसके अंदर परमात्मा शक्ति जागृत नहीं है जैसे जैसे वो परमात्मा भाव उसके अंदर आता है तैसे परफेक्शन आने लगता है एक फॉल्टी नेचर उसकी खत्म होने लगी फॉल्टी नेचर खत्म हो जाने के माने फॉल्ट के माने झूठा था फॉल्टी नेचर खत्म हो गई तो माने क्या हो गया सत्संग हो गया <clears throat> वो जो कुछ करेगा सारे बिल्कुल सही आएगा भूल चूक नहीं होगी अब उसके बाद जो वो संकल्प करेगा निश्चय करेगा वो बिल्कुल पूरा होगा उसमें कमी नहीं आएगी तो कहते हैं कि सत्य संग खाड़े सरलखा भगवान ने फिर जो वो हो बात छोड़े अब ये नहीं कहते कि भगवान ने एक लाख बाण धनुष पर चढ़ाए हम्म। अब देखो सब योजना जो है जो बात कही जाएगी अब गर्व हो जाए एक लाख बाण धनुष पर चढ़ाए तो आपको तो लगेगी एक लाख बाण धनुष पर तो चढ़ गए लेकिन किस प्रकार के बाण होते हैं एक बाण धनुष पर चढ़ाओ और वो जब निकलता है तब तो एक लाख बन जाता है हम्म। तो भगवान ने एक बाण चढ़ाया और सर्वक्षा एक लाख बाण से बन गए और एक लाख होकर के सबकी तरफ गए दौड़े से चारों तरफ देखना और काल सर्जन के लिए अच्छा और बांस सब कराते हुए ऐसे चले जैसे काल सर्प हो मैंने ऐसे सर्प जैसे चलता उड़ता फुनकारता हुआ ऐसे उड़ता पंखेदार जैसे सांप उड़ रहे हैं तो बाण के पीछे लगे होते हैं वो और इससे लगे होते हैं दो जिससे कि उसका बैलेंस बराबर बना रहता है तो वो जो है वो पंखेदार ऐसा लगता है कि सांप चल रहा है और फलने से आवाज होती है जब वो बाढ़ छूटता है धनुष तो से कहीं फन की आवाज आवाज हवा के साथ में होती लगती है तो ऐसा लगता है कि सांप कर रहा हो ऐसा रूप बन गया तो ऐसे करके बाहर चलते हैं तो उसको देखो भगवान राम के बाहर चले और निशाचरों की तरफ आगे जाते हैं और जहाँ कहा चले विपुल नारा का और कहते हैं की जहाँ कहाँ चले ऐसे नहीं की एक लाख पाँच चले तो सब एक लाख पाँच सौ सामने एकदम चलिए अब धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया जाएगा तो जिधर धनुष होगा जिधर निशाना होगा उसी तरह चलेंगे लेकिन इन बाणों का क्या हुआ एक बाण के बाद एक लाख बने तो फैले इस प्रकार इस तरफ की दिशा की तरफ भी चले इस दिशा की तरफ चले सामने भी चले मैंने पूर्व जितनी शत्रु सेना थी सात दिशाओं में सब पहुँच करके सामने सबकी तरफ फैल गए वे बाण तो जहाँ कहा चले विपुल का नाराज के मैंने भी बाण नाराज लोहे के बाण को नाराज कहते हैं वैसे कई मानव के के नाम है उनके प्रकारांतर भी जो कहते हैं लगे कटन भट विकट पिशाचा लगे कटन भट अब जैसे वो पान जा जा करके लगते हैं तो जहाँ निशाचरों के जिसके लग जाते हैं तो उनके शरीर कट जाते हैं विकट पिशाचा जो बड़े बड़े शक्तिशाली जो बाण निशाचर है उनको भी ये बाण लगते हैं तो वो भी खंडित हो जाते हैं उनके कट जाते हैं सिर कट जाते हैं हाथ पर कट जाते हैं फिर से जहाँ लग जाए बाण कहा हो जाते हैं इस प्रकार से कट जाते हैं और कहीं चरण तो और सिर भुज दंडा और कहे तो उनके कहीं किसी के पैर कट जाते हैं किसी के पेट में लगता है तो पेटी से कट जाता है किसी का सिर में गले में लगता है तो सिर कट जाता है भुज डंडा बाह में लग जाए तो बाढ़ कट जाते हैं तो इस प्रकार के विभिन्न अंगों में वो बाढ़ लगते हैं और उनके सबके अंग कट कट जाते हैं और बहुत वीर हो सतखंडा और बाजे बाजे तो इस प्रकार के हैं कि उनके कई कई बाढ़ लग जाते हैं तो सौ सौ टुकड़े हो जाते हैं मैंने बिल्कुल छिन्न भिन्न शरीर उनका हो जाता है ऐसे भी हो जाते हैं और घोर में घोरी में घायल मरी पड़नी और जो मरे नहीं घायल हुए हाथी कर कटे वो क्या होते हैं कि अब चक्कर काटते हैं जहाँ पर है वहीं पर चक्कर काट काट काट करके जमीन में गिर पड़ते हैं बेहोश होकर के जल जाते हैं उठ संहारी सुबह पुण्य रही और फिर उनको होश आता तो सब से खड़े होते हैं और फिर लड़ने की कोशिश करते हैं फिर युद्ध करते हैं तो आप देखो निशाचर जल्दी मरते नहीं मनी कहने के तात्पर्य तो निशाचर भी अपने अंदर की जो आसुरी वृत्तियाँ हैं कोई कम नहीं है वो कुछ बहुत बार ऐसे लगता है इसमें भी देखते हैं गीता में भी तीसरे अध्याय के अंत में जहाँ पर की समाप्त हुआ कर्मयोग वाला और उसमें कामना और काम क्रोध के संबंध में भगवान ने शुरू किया और कामना को बताना शुरू किया वहाँ पर भी ये कहते हैं कि निशाचर जो है ये काम क्रोध आदि निशाचर है और ये जल्दी नहीं मरते ये इंद्रियों के स्तर के ऊपर भी रहते हैं मन के स्तर पर भी रहते हैं बुद्धि के स्तर पर रहते हैं आप इंद्रियों के स्तर के ऊपर उनको मारो भगाओ तो मन में छिपेंगे मन में मार भगाओ तो बुद्ध में छिपेंगे बुद्ध से लगाओ तो जाकर इंद्रियों में घुसेंगे तो इस प्रकार से ये कहीं न कहीं भीतर घुसे रहते हैं और नाना रूप धारण करते रहते हैं जल्दी मारे मरते नहीं इनका बिना जल्दी नहीं होता तो यही कहते हैं कि ये सबके सब निशाचर जो अपने अंदर जो ये <clears throat> ये बड़े शक्तिशाली हैं हालांकि इतने बाढ़ लगते हैं घायल भी होते हैं कटते मरते भी हैं लेकिन फिर उठ करके खड़े हो जाते हैं कथा भी है जैसे मतलब कथा चल रही है तो कथा चलते हुए कथा के में भगवान की कथा जब कानों से होकर के भीतर पहुंचती है तो काम क्रोधाद विकास उस समय ऐसे हो जाते हैं जैसे घायल हो गए और बेहोश हो गए उस समय कथा के समय कोई अपने आप सोचे कि हम किन किन कामनाओं से ग्रसित हैं तो लगे कोई कामना नहीं कभी क्रोध आगे तो बहुत ज्यादा है कोई क्रोध हो कुछ तो उस समय न क्रोध दिखाई देगा न काम दिखाई देगा न लोभ दिखाई देगा न मोह दिखाई देगा इन सबका क्या हुआ ये सब इस कथा में मानो इतने अस्त्रों का प्रहार हुआ कि जैसे कि सब बेहोश पड़े उनमें कोई ताकत नहीं हम्म? लेकिन जहाँ कथा समाप्त हुई तो फिर चल गए फिर उसमें आ गए फिर चालू हो गए हम्म? और ये बहुत मैंने साधना काल में इसमें बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए में आकर मर गए ये तो आजीवन इस प्रकार का संग्राम करने को है और बराबर चलता ही रहता है हम किसी प्रकार लड़ते ही रहना चाहिए भगवान की आराधना साधना करता रहे चिंतन करता रहे ध्यान करता रहे निशाचरों को मारने का प्रयास करता रहे इन निशाचर कम होंगे क्षीण होंगे दुर्बल होंगे लेकिन ये विश्वास न कर ले कि ये खत्म हो गए जो ज्ञानियों पर छिदा पा रहे जो लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी जिनको कुछ कहने नहीं साफ का सब ज्ञान आत्मा परमात्मा के ज्ञान को खूब बोलने वाले खूब बताने वाले खूब समझने वाले खुद डिस्कस करने वाले खूब शास्त्र भी खूब रखे हुए बोल रहे बिल्कुल स्पष्ट विवेचन कर रहे हैं सब कुछ हो जाए लेकिन ज्ञानियों का चुका पा रहे उनको भी चाहिए जो है उनके चित्र पर दिया करने वाले ही ये उनका जो तो इनका जहाँ देख खड़े हो गए तो ज्ञानी सब खड़ा रह जाता सभी किनारे और ये फिर जो है अपने हृदय में जागृत हो जाते हैं इसलिए कहते हैं कि ये घूर्म घूर्म घायल मई पर ही कुट संभारी सुभट पुनिल रहे और लाग सतान जलद जी में गा और जब इनके बाल लगते हैं छात्रों के तो जलद के मन मेघ के समान गर्जना करते हैं जैसे मेघ गरजता है बादल आ जाते हैं तो गड़गड़ाते हैं एक दूसरे से टकरा करके कैसे ऐसे ये सबके सब बादलों की तरह से गरजते हैं ये सब और बहुत देख कठिन सर भाजे हैं और बहुत से निशाचर को देखते हैं सब पड़ाता हुआ पान चला रहा है तो जहाँ उन्होंने देख लिया कि बाढ़ प्रचंड बाढ़ चला रहा है तो उसके सामने नहीं पड़ते एक किनारे हट जाते हैं तो बाढ़ निकल जाता है उसमें तो बहुत देख कठिन सर भागे और रुंड प्रचंड मुंड जुन आवे बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी बाढ़ लगा सिर कट गया तो सिर तो कट गया गिरा जा करके अब बाकी सिर से नीचे वाला भाग रह गया उसको कहते हैं धड़ उसे कहते हैं रुंड तो रुंड प्रचंड प्रचंड मने वो शरीर नीचे का हाथ पैर ये सब इनमें खूब ताकत है और ये सब हाथ पैर खूब चलते रहते हैं तो कहते हैं रुंड प्रचंड मुंड बिन धाम सिर नहीं है तो क्या बिना सिर के ही तो शरीर भागता दौड़ता है और धर धर मारो मारो धनु गावही और वो हुए सबके सब जिनके जो सिर है वो वे सबके बार बार चिल्लाते हैं कि मारो मारो काटो काटो इस प्रकार है भयंकर युद्ध का रूप ढालो बड़ा शोर हो रहा है गर्जना हो रही है मर रहे हैं कट रहे हैं ये सब युद्ध का रूप हो तो युद्ध का जो भीषण रूप जो है वो हो वर्णन कर दिया है तो छन मऊ प्रभु के सायकन काटे विकट विशाल इस प्रकार क्षण भर में भगवान के बाणों ने <clears throat> बड़े बड़े शक्तिशाली निशाचरों को भी काट छान के धर दिया और वो अभी कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण नहीं है कि उनके जितने सहायक और निशाचर थे उन सब निशाचरों को ही पहले भगवान ने शिथिल कर दिया और पुनः रघुवीर ने संगम प्रभु से सब नाराज और वो बाण जितने थे वो सब के सभी लोगों को काट छाट करके अब ऐसा नहीं होता कि बाढ़ खत्म हो गया वहीं पड़ा रहा ऐसे नहीं है ऐसे हो तो भगवान के पास कहाँ जैसे बाढ़ है उनके पास वो बाढ़ जाते हैं सबको काट छाट करके लौट करके फिर बूमरंग की तरफ फिर लौट करके आ जाते हैं और फिर उनके तर्कस में आकर के समा जाता है तो तर्कस में बाढ़ आगे फिर बाढ़ छोड़ने के लिए तर्कस में जब हाथ डालो तो वहाँ बाढ़ मिलता है <clears throat> वहाँ बाढ़ों की कमी नहीं हो इसलिए इसको ऐसे बात तर्कस को अक्षय कहते हैं अक्षय तुम हम्म। अर्जुन के पास भी ऐसी बात तर्कस था अक्षय तुम है अर्जुन बांधे घटत नाई कोटिन सरसंधाने वो जो है उसके पास भी अक्षय तुम है वो चाहे कोट चाहे जितने बाण चला रहे उसके घटते ही नहीं ऐसे भगवान के पास भी जो है सारंग धनुष और अक्षय तुम है उसमें जितने बाण चला चलते रहते हैं क्यों अक्षय है क्योंकि वो बाप जाते हैं लौट करके तर्कस में आ जाते हैं क्षण प्रभु के सायकन काटे विकट विषाद और पुनरघुवीर निसंग महु कर कर और प्रभु से सब नाराज नाश माँ वो बाढ़ आकर के उसमें आकर के फिर प्रवेश कर जाते हैं इस प्रकार से देखेंगे ये हुआ युद्ध निशाचरों से अब आज भगवान अब कुंभकर्ण से उसके बाद जब कुंभकर्ण देखेगा कि हमारी सेना इस प्रकार से भगवान ने काट छाट करके जाकुल कर दी है वो भी क्रोध करके भगवान राम के सामने पड़ेगा और स्वयं युद्ध करना चाहेगा तो जब कुंभकर्ण का युद्ध होता है तो भगवान कुंभकर्ण का देखो कैसा उग्र युद्ध होता है उसे कर देंगे नान्या हृदय स्मदीये सत्य